उसको अवसर दीजिए अपने कामना के अनुकर्म तो कर्म करें कामना को पूरी करें कुछ जब तक कुछ कामना पूरी नहीं होती है और इसका अनुभव नहीं होता है कि भाई न जातु कामकता मानव भोगे न प्रशांत ये जब तक उसको अनुभव नहीं आएगा तब तक वैराग्य कर गए वह पारमार्थिक तत्व अनुभूति करने की ओर जा ही नहीं सकता है ऐसे मन मध्यम अधिकारियों के लिए कर्म और उपासना अति आवश्यक है जिसको आप दर्शन में रखे नहीं कहीं भी गुंजाइश यही श्रेष्ठता है यहाँ पर काम और हारे कौन से लेकर के ब्रह्मा जी पर्यत सब के लिए विभिन्न प्रकार के विधि विधान दे दिया गया है सभी जहाँ जैसे वही से आगे बढ़ करके अद्वैतानुभूति कर मुक्त हो सकता है इसीलिए वो जो भेद कथन है वो उन लोगों की दृष्टि से उनकी कल्याण के लिए और उनकी मनोकामना की पूर्ति करने के लिए और आगे उन्हीं के लिए बात करके द्वारा अनुवाद किया क्यों अध्यारोप को अनुवाद इसलिए किया गया है ताकि बाद में अपवाद कर सके ये श्रुति का मुख्य लक्ष्य है एकत्व इसलिए द्वैत का प्रतिपादन में मुख्यत्व नहीं है यह नम श्रुतिया भी जीव परमात्मा पृथकम भाष्य श्रुति के द्वारा भी जीव और परमात्मा के पृथक कथन हुआ है उत्पत्त्यर्थ उपनिषद वाक्य पूर्व उत्पत्ति अर्थ उपनिषद वाक्यों से पहले उत्पत्ति अर्थ वाक्य कौन है न वेद प्रत्यय किंतरी तथा प्रवृत्त कर्मकांड वाक्य स्फुटम स्पष्ट न घटाकाशा दृष्टान्तर तुम शक्य टिप्पण का स्पष्ट करते हैं जिसलिए कर्मकांड वाक्यों के द्वारा बात स्पष्ट करी गई है उसको अब घटाकाश दृष्टान्त के द्वारा खंडन कर देना उचित नहीं है पूर्वपक्षिकाश है पूर्व प्रकीर्ति कर्म कांडे का खत कर्म कांड और उपासना कांड में कहा गया है चित्र रचित पुरुषकामा कार्य रचित काम इत्यादि अनेको श्रुति स्मृतियां हैं स्मार्ट कर्म भी है श्रुति के साथ उन्हें भी ले लेना अनेक अशक काम भेदता कैसे विधान किया अनेक मैंने काम भेद इधम काम हो अलग काम क्योंकि दुनिया में दो ही है या तो इस लोक की यह लोक की उत्तम कामना कर रहा है तो इधम काम हो गया और जब प्रलोकों की रक्षा चाह रहे तो अधक काम हो गया या तो इधम काम है अथवा अधक काम है उन कामनाओं के अनुरूप कर्मों का वर्णन करते वक्त जीव और ईश्वर का भेद को ही सब जगह प्रतिपादन किया है सदाधार पृथ्वी व्याम इत्यादि मंत्र वर्ण हो परमात्मा अलग है तो इस पृथ्वी को दिलों को सबको अपने में धारण किया है और जीव बेचारा क्या है धारण कर सकता है क्या इसे स्पष्ट है जीवन परमात्मा भिन्न कथम कर्म ज्ञान कांड वाक्य विरोधे ज्ञान कांड वाक्यार्थ शैव सामंजस्यम अवधारियत पूर्व पक्षी पूछता है महाराज जब ऐसा श्रुति में ही परस्पर विरुद्ध बात कही गई कर्म कांड में द्वैत ज्ञान कांड में अद्वैत परस्पर विरुद्ध बात कर्म ज्ञान कांड वाक्य विरोधे कर्म कांड के वाक्य और ज्ञान कांड के वाक्यों के सिर्फ परस्पर विरोध हो जाने पर ज्ञान कांड का वाक्य अर्थ ही मुख्य अर्थ है वो एकत्व ही युक्त है सम्मत है ऐसे आपने कथम थे किस प्रकार निश्चय कर रहे बताओ कैसे आप निश्चय करेंगे हम उल्टा करेंगे हम तो कहेंगे अद्वैत सब केवल प्रशंसा मात्र भी मान सकते हिमाचल ही नहीं जाते ये अद्वैत वाक्य जितना भी है वो हमारे यजमान की प्रशंसा करती है यजमान तुम ही ब्रह्म हो असी ऐसे कर तो यजमान की प्रशंसा कर रही और उस वक्त तुमने यथार्थ में ले लिया ये सब भूतार्थवाद है उनके अर्थवादों में तीन प्रकार का अर्थवाद माना उन्होंने गुणवाद रूपी अर्थवाद है अनुवाद रूपी अर्थवाद है और भूतार्थवाद रूपी अर्थवाद गुणवाद रूपी अर्थवाद कौन सा है क्या है आदित्यो है आदित्य वही युवा पत्रो यजमान इत्यादि गुरुवार का अनुवाद करना कथन करना है जो आदित्य देवी देदीप्यमान दिव्य है सरल फल का प्रदाता सरल कर्मों का साक्षी वैसे हे युवा तुम भी हमारे तरह के सरल कर्मों के साक्षी हो आदित्य के समान घी से चिपटा हुआ ये चमकता रहेगा क्यों नहीं चमके जाओ चमकता रहेगा इसलिए आदित्य व युवा करके आदित्य गुणों को युग में आधान करके युग की प्रशंसा है अनुवाद अनुवादार्थ जैसे अग्निर्मस्य कैसे प्रयोग किया अरे अग्नि जो है हिम का दवाई है ठंडी का दवाई है दुनिया में प्रसिद्ध है ठंडी आती है तो आप देखेंगे हर चौराहे में आग लाके क्यों बैठे हैं लोग बिना वेद पढ़े वो जानता है अग्नि जो है हिम का दवाई है ठंडी का दवाई है ये सब जानते इस लोक में सिद्ध का ही अनुवाद करने वाला उस अग्नि के प्रशंसा पर वाक्य हो इसलिए भी अर्थवाद है और इंद्रो वज्रहस्तो पर ये सब भाग है इसी का निर्गुण निराकार निर्विकल्प ब्रह्म ये सब भूतार्थवाद है और कुछ नहीं अर्थवाद वस्तु के सर्व कथन करता हुआ प्रशंसा पर वाक्य समझनी चाहिए ऐसे करते हैं हाँ, उसको मानो क्यों ज्ञान कांड वाक्य को मुख्य अर्थ वाला मानते हो पूर्व पक्षी कहता है ज्ञान कांड वाक्य अर्थ से एक सामंजस्य खत्म हो जा रहे थे किस आधार पर आप किस प्रकार से निश्चय कर रहे हो यदि चेत अप्रोक्षते तब उसमें सिद्धांत जवाब देता है तो वाईमानी भूतानी जायते यथादने क्षुद्रा आकाश संभूता तदैक्षता तेजो इत्यादि उत्पत्थोपनिषद वाक्यभ्य प्राक कर्म कांड प्रकृत न परार्थम में प्रोक्त उत्पत्ति वाक्य है यथो वायमानी भूतानि जायते ये न जाता जीवंती इस जिससे उत्पन्न हुआ उसी से स्थित है उसी में लय होता है अतः जो जो पहले था बीच में वही है अंत में वही है उससे उत्पन्न होकर लय होता है बीच दिखाई देता है जो वह वास्तव में नहीं है अद्वैत सिद्धि तो कर्तव्यता है ऐसी उत्पत्ति वाक्य तो प्रषदों में विद्वान इस प्रकार की उत्पत्ति पर वाक्य जितने भी है वे उत्पत्ति पर वाक्य जो है और जैसे यथा अग्रे क्षुद्रा विस्वृंगा दृष्टान के द्वारा समझाया है उसी प्रकार परमात्मा से मानव जीव अलग हुआ था भ्रांति है तस्माद तस्माद आत्मन आकाश संभूता इत्यादि तद इच्छत उसने इच्छन किया तब तेजो सृजत ये कई लोग कल भी व्यक्ति ऐसे बोल रहे बार बार बार बार एक ब्रह्म इच्छा हुई ब्रह्म तो चाह एक श्याम प्रजा हुई एक आप की न रमत है बारम्बार उसको समझा रहे भाई ऐसा नहीं है ब्रह्म में न इच्छा हो सकती है न कुछ हो सकती है वो आप काम है पूर्ण काम है अकाम हो उसमें तो कांड कामना होगी अरे श्रुति का क्या होगा अरे श्रुति शुद्ध ब्रह्म को नहीं जा रहे हैं मायावचिन चेतन की बात करते हैं माया उपाधि की ईश्वर ही को यहाँ ब्रह्म शब्द से कहता तेजो असुरक्षत जितने भी सब मायावचिन चेतन को लेनी पड़ेगी जहाँ किंचित भी कामना इच्छा वर्ग और उसके अंदर जो विकार का जैसा व्यवहार होता हो विवर्तता की अनुभूति होती हो वो सारी चीज है माया और चिंतन को लेना चाहिए शुद्ध ब्रह्म को नहीं मानता ही नहीं बिना ब्रह्म में कुछ हुए माया चिन्ह ईश्वर के क्या कर लेगा ब्रह्म धर्म के आधार पर ईश्वर भी कर रहा है ना ब्रह्म की सहमति तो होगी चलो इच्छा नहीं करता है तो ब्रह्म ने ओके कर दिया तू कर दिया ईश्वर को तो ईश्वर ने बनाया तो नहीं ओके भी नहीं करेगा वो वो तो नहीं करता ये तो संतान का कारण है पदार्थ कर देना दोनों हाथ आशीर्वाद दे देंगे ये भ्रम का काम नहीं है भ्रम कहा से करे तो निर्गुण निराकार निर्विकार हो वो निष्कल है वो वो कहा पर वहां पर कुछ भी नहीं हो कैसे करेगा कोई करने की बात ही नहीं करो वहां पे निष्क्रिय है क्रिया है नहीं और तुम कहते नहीं ओके किया उसने अब किया आ गया ना गड़बड़ हो गया फिर महाराज आप ही ने अभी बोलते तो उसकी सत्ता मात्र से हो रहा है तो उसकी सत्ता का मतलब ये नहीं है कि उसने स्वीकृति दे दिया सम्मति दे दिया अब ये चुंबक थोड़ी सम्मति दे रहा है अरे लोहा तुम मेरे जाके चिपक जा चुंबक सम्मति दे रहा क्या अब लोहे का अपना स्वभाव है चुंबक की सत्ता जहाँ आई हो चिपक जाता है अब लोहे का अपने हो गुण समझो दोष समझो उसके अंदर है चुंबक में कुछ नहीं कई प्रकार समझाने के बाद चलो आप कहते हैं तो मैं मान लेता मेरे कहने से मानिए नहीं गलत हो जाओ फंस जाओगे फिर मेरे कहने से अनुसंधान से क्या लाभ होगा तेरे जिसको अनुभव करने की चेष्टा करो श्रुतियां ये बात करती है मैंने कहा मत समझो श्रुति कह रही इसलिए आप मानिए श्रद्धत्व श्रुति का ना बार श्रद्धत्व श्रुति कह रही है श्रुति में श्रद्धा आपको अनुमति हो जाएगी एक न एक दिन तेरे मान के चलो श्रुति कह रही न व्यक्ति तो प्रमाणम शास्त्र में प्रमाण तो ये ना समझो कि शांत कहता है तो प्रमाण बिल्कुल गलत सोच रहे हो अपना आप कुछ भी कथन करो वो आप प्रामाणिक है ये श्रुति के अनुरूप श्रुति का अनुवाद करो वो प्रामाणिक है व्यक्ति कभी प्रामाणिक नहीं हो सकता अच्छा आप अपने आप को प्रामाणिक नहीं मानते बिल्कुल नहीं अरे मैं तो मिथ्या हूँ कहे तो प्रामाणिक हो सकता हूँ तो चुप हो गया तो ये कह रहे हम तो मिथ्या है हम कहा है तुमको दिख रहा है तो है बात खत्म करो अब हम क्या अभिज्ञा है तुम्हें दिखाई दे रहा है वो विद्वान है मेरे सामने करके तुम्हारी अविद्या हम क्या कर सकते हो नहीं हम तो मिथ्या है जो स्वरूप तुम मान रहे हो मिथ्या है जो यथार्थ है सोची कह रही है तो क्या कर सकते ये सत्य को स्वीकार करो तो अच्छा तो ठीक है बोला नहीं जाता तो बाद में हाथ जोड़ के चला गया तो कहने का यह मतलब कह रहे इसलिए इन समस्त श्रुतियों इत्यादि उत्पत्ति प्रश्न वाक्य भी अपराध इत्यादि उत्पत्ति स्थिति और लय को कथन करने वाली उपषद वाक्यों से पहले जो पृथकतम कर्म कांड प्रकृतिदान जीव और परमात्मा जो कर्म कांड में जो कथन किया है पृथकत्व तत् न परमार्थम तो पारमार्थिक सत्यता उसमें नहीं है किंतर क्या है गौणम गौण है कहते हाँ महाकाश घटाकाश आदि भेदवत जिसको हमने पहले समझा दिया है घटाकाश आदि जो भेद है लोक व्यवहार सुप्रसिद्ध है वह गौण भेद है वास्तव में महाकाश एक है उसमें कहीं भेद है ही नहीं औपाधिक उपाधिकृत भेद होने के नाते गौण है वास्तविक भेद नहीं है यथा दृष्टान्त और समझाने के लिए करे ओधनम बचती करते हो क्या कर रहे जी आप भात पकाओ अरे भात क्या पकाओ जब पकड़े के बाद तो भात का नाम है चावल पका रहा हूँ कहना चाहिए ना चावल पका अरे कहते रहे भात पका रहे दाल पका रहे अरे दाल क्या पकाओगे पकने के बाद का तो नाम दाल है पकने के बाद वो सब्जी है नहीं वो तो कहते ना वो अभी पक रहा है पहले ही वो सिद्ध अवस्था का नाम ले लेता है तो बात क्या है सिद्ध अवस्था का है प्रक्रिया अवस्था का तो है ही नहीं प्रक्रिया अवस्था में चाल है चावल है लेकिन समस्या है बिछा पूछ रहे हो अगर चावल भी नहीं रह गया और भात भी नहीं रह गया समस्या वो कहेगा तो, तो कहेगा क्या वो है चावल है क्या चावल भी नहीं तो पक गया और भात भी नहीं फिर हो क्या रहा है हो रहा है तो कुछ पकड़ा है ये भी नहीं कर सकते तो कुछ पकड़ा है फिर आप पूछे क्या पकड़ा है तुरंत आपका प्रश्न होगा आप हाँ, कुछ पकड़े में तो क्या पकड़ा है आपको कहना ही पड़ेगा बात पकड़ा तो भावी गति को ध्यान में रखते हुए पूर्व में भी सिद्धवस्था का जैसा आप कथन कर लेते हो और वो जो कथन है वो गौण मुख्य वृत्तियां नहीं मुख्य वृत्ति से नहीं तो तुरंत आगे परसो ना फिर परसेगा कैसे वो और खाने लायक है नहीं वो तो खाने लायक है नहीं ना तो इसीलिए गौण व्यवहार भात संज्ञा जो संज्ञा पंडलों में गौण है ओरम दीदी भविष्य वृत्तिया कहते उत्तर उत्पत्ति वाक्य महाकाश घटाकाश भेद तुल्यो यो वेद प्रतिभात सैव प्रस्ताव कर्म वाक्य रुकता जो आगे में जाकर के उत्पत्ति वाक्यों के द्वारा महाकाश घटाश भेद की समानता जो भेद की प्रतिभास है उसी कथन करेंगे उसी भेद जो प्रातिभाषिक भेद को ही कर्म कांड में पूर्व में कथन कर दिया गया इसे समझो नहीं भेद वाक्यांतराक्षर मुख्य वेदार्थ तो बोलित है भेद वाक्यांग की तरह बोलित तो भेद रूपी जो अर्थ है उसे मुख्य अर्थ तो हो नहीं सकता कदाचित भी मुख्य भेदार्थोत्तम न बोलते कभी भी किसी भी प्रकार से भी मुख्य भेद वास्तविक भेद पारमार्थिक भेद का प्रतिपादन करना उनकी बस की बात नहीं हो सकती है क्या है वो स्वाभाविक अविद्या प्राणी भेद दृष्टि अनुवादित आत्मभेद वाक्या नाम आत्मा और परमात्मा के भेद कथन करने वाले जितने वाक्य हैं वो क्या है वो स्वाभाविकी जो अविद्या है पार्श अविद्या वाला कौन के प्राणी है जितने भी जीव है स्वाभाविक ही अविद्या वाला है अपनी तारस अविद्या वाला होकर के जीव क्या कर रहा है भेद दृष्टि रखता है सभी में उसी भेद दृष्टि का अनुवाद करते हुए आत्मभेद वाक्य कथन कर रहे हैं यह चोपनिषद सु उत्पत्ति प्रलय वाक्य जीव परमात्म प्रतिपादित और यहाँ यथवा इत्यादि वाक्यों में जो अभी अभी कहा हुआ उन उपनिषद वाक्य उत्पत्ति प्रलय के कथन करने वाले उपनिषदों में विद्यमान वाक्यों के द्वारा जीव और परमात्मा का एकत्व को ही प्रतिपादन करने के लिए इच्छित है ये कैसा पता चला क्योंकि उपक्रम उपसंहार इत्यादि युक्तियों के आधार देखता हूँ तत्वसी अन्य सु अन्योमस्मिति न सवेद स्पष्ट अरे तुम वही हो अभी कथन किया और जो व्यक्ति मैं अन्य हूँ और वो ईश्वर अन्य है ऐसा मैं उपासक अन्य हूँ मेरे से अन्य उपास्य है ऐसा जो मानता है वो वास्तव में नहीं जानता है इति न सवेद इत्यादियों के द्वारा स्पष्ट ही द्वैत निषेध पूर्व अद्वैत का प्रतिपादन किया गया है अत उपनिषत्सु एकत्व श्रुतिया प्रतिपादित भविष्य भाविनी एक वृत्तिम आश्रत्य एकत्व वृत्तिम आश्रत्य इसलिए परिषदों में एकत्व श्रुतियों के द्वारा प्रतिपादन प्रतिपादन कर इच्छित एकत्व को जो कि कहा भविष्य भविष्य में होगा एकत्व प्रतिपादन इस भाव को ध्यान में रखते हुए और भविष्य में होने वाली एकत्व रूपी वृत्ति को ध्यान का आश्रित करके लोके भेद दृष्टि अनुवादो गौण एवं लोक में विस्तृत भेद को ही जो श्रुतियों ने किया है भेद दृष्टि का अनुवाद वह गौण है ये इसका उपाय हुआ अबाधित एकत्तावगति अवगति एकत्र अबाधित अवगति भविष्य में कथन करने वाले हैं श्रुति अतः उस भविष्य में कथन करने वाले उन श्रुतियों को ध्यान में रखते हुए पूर्व में विद्यमान जो श्रुतियां हैं तो भावी एकत्व श्रुति को ध्यान में रखते हुए पूर्व में आरोपित लोक प्रसिद्ध भेद दृष्टि का अनुवाद मात्र करता है सुनिश्चित करना चाहिए अथवा जो असर असर्जत इत्यादि उत्पत्ति प्राक एकमतिमित एकत्व प्रकृति और विचार करके देखेंगे आप ये देखते हुए दिख रहा है केवल प्रशल वाक्यों में तद इच्छत तद तेजो सृजित तद आपो सृष्ट इत्यादि मंत्रों की उत्पत्ति के पूर्व में क्या आया एक अद्वितीय एकत्म प्रकृति तो स्पष्ट ही कथित है तदे बचा और उसी को उपसंहार में क्या बोला तत्सत्यम स आत्मा तत्तमसी तद वही सत्य है आत्मा है वही तुम हो ऐसे कह दिया उपसंहार में उपक्रम में एक में द्वितीय उपसंहार में सत्ता तो तुम असी और बीच में तेजोतर इत्यादि वाक्य आया है छांद के प्रकरण में यदि एकत्व भविष्य इस प्रकार से एकत्व का ही होने की कथन किया हुआ है अवगतम निश्चय किया गया है ताम भविष्य अपेक्षा उस भविष्य वृत्ति की अपेक्षा से जो जीवात्मा का पृथकम यत्र क्वचित वाक्य गम्यमानम तद गौणम जो भविष्य वृत्ति का अपेक्षा है जीव और आत्मा की पृथक जहाँ कहीं कुछ वाक्य में जो कथन किया गया है वह गौण है यही निर्णय होता है यथा औदनम पचती जिस प्रकार से ओदन पचते वही को दोबारा दोहराए कंडलेश ओदन व्यवहार यथा गौण तथा भेद भेद व्यवहार अभी गौण तंत्रो में ओदन व्यवहार था गौण है उसी आवेद में भेद व्यवहार भी गौण माननी चाहिए भविष्य वाक्यत बायोर्थम अपेक्षा भविष्य भविष्य में जो वाक्य से उत्पन्न बाद होने वाला है उस वृत्ति को अपेक्षा करते तन निमित्त निर्णय है कि यह गौण है इतना ही नहीं यदि उत्पत्ति प्राग अजम सर्वम एकमेवा तथा उत्पत्ति ऊर्जम जातम इधम सर्वम जीवाश्चिन्ना यद्यपि आपके कहना हम मान लेते हैं कि उत्पत्ति से पूर्व में ये अजदा सब कुछ एकमेव द्वितीय था गुरु उत्पत्ति के बाद में द्वैत तो आ ही गया है द्वैत आ गया कि तो जातम इधम सर्वम सब कुछ पैदा हो गया और जीवाश्च भिन्ना और जीव भी भिन्न हो गए कहते अद्वैत हम कदम बोलते हैं इसलिए अद्वैत के संपन्न हो सकता है इच्छित मई हम तो, क्या ऐसा नहीं कर सकते अन्य सत्ता उत्पत्ति श्रुति नाम जितनी भी उत्पत्ति श्रुतियां हैं इनका प्रयोजन कुछ दूसरा ही है अन्य सत्ता उत्पत्ति श्रुति नाम निषेध समर्पक जितने भी हैं वह अद्वैत श्रुति कोई कथन करना उसका शेषत्व है निषेध समर्पकतया अद्वैत शेषत्व नित्यर्थ अन्य अर्थ निषेध समर्पक है निषेध वाक्य है नेति ने किंचन ये निषेध वाक्य और निषेध क्या है उसे पूरा कर्म कांड और उपासना कांड में द्वैत कथन किया है निषेध ही समर्पक होने के नाते उन वाक्यों का मुख्य तात्पर्य किसमें जाएगा एकत्व का प्रतिपादन करने में इसे समस्त उत्पत्ति वाक्य समस्त द्वैत वाक्य जितने भी है उन सब का तात्पर्य लक्ष्यार्थ अद्वैत अद्वैत बोध कराने में ही है यह बात यद्यपि पहले ही आप दोष दिया था हमने युक्ति के माध्यम से उसको खंडन करके समाधान कर दिया हूँ पूर्व में भी परिहरम दोष पूर्व में भी युक्तियों के द्वारा इस दोष को मैंने परिहार कर दिया है पहले इस बार पूर्व में परिहरता मैंने पहले इस बात को दोषों का परिहार कर चुका हूँ आपकी शंकाओं को कहा अरे दसवीं कारिका भूल गए क्या स्वप्रवदात्म माया विसर्जिता संगाता ये शब्द आया है वहाँ पहले स्वप्न के समान श्रेष्ठ माया से उत्पन्न है वास्तव तो उत्पन्न ही नहीं ये बात हमने संघातों के बारे में वर्णन किया था कार्य का दस में प्रश्न एक सौ बयालीस और घटाकाशोत्पत्ति भेदाधिवत जीवानुत्पत्ति भेद आदि रीति इसे उत्पत्ति भेद के समान जीवन के उत्पत्ति कृत भेद होता है गौण है यह बात कार्य का संख्या छह फिर संख्या एक सौ अड़तीस में हम पहले विचार कर चुके हैं दसवीं में और छठी में दो में वर्णन कर चुके हैं कहते उत्पत्ति भेदा श्रुति आकृष्य ये पुनुत्पत्ति श्रुति नाम अयम परिप्रतिपादिशिया उपन्यास इत उत्पत्ति वेदा श्रुति इसी प्रयोजन को लेकर के इतव उसी प्रयोजन को ध्यान रखते हुए ही उत्पत्ति वेदा श्रुति आकृष्य उत्पत्ति वेदा श्रुतियों को मिथ्या सृष्टि परत्व को कथन करने के लिए दोबारा यहाँ आकृष्ट करके उत्पत्ति श्रुति नाम एवं परिप्रतिभा विषया उपन्यास और उत्पत्ति श्रुतियों का मुख्य अर्थ क्या है लक्ष्यार्थ क्या है गौणार्थ क्या है इसी बाण को प्रतिपादन करने की इच्छा से उपन्यास किया जा रहा है श्रुति संबंध दृष्टान्त के द्वारा श्रुति में प्रतिपद का गौत्व कथन समाधान के द्वारा करते हैं देखो लोह विस्वलिंगाध्य सृष्टिर्या चोरिता अन्यथा उपाय स्वताराय नाथ भेद केवल मन मध्यमाधिकारियों की बुद्धि को अद्वैत में अवतरित करने के लिए मोक्षों की बुद्धि विवेकियों की बुद्धि को अद्वैत में ले जाने के लिए नयन करने के लिए ये सारी बतंग दृष्टान्त को समझाया गया है जितने भी उत्पत्ति वाक्य है जितने प्रकार के कथन किया हुआ है द्वैत पर कथन वह सब कथन इसलिए है द्वैत में ही रहने वाला अज्ञानी की बुद्धि अद्वैत आकार वृत्ति को कैसे ग्रहण कर सके उसी के लिए जान करके इसको ले जाया जा रहा है सो अवतार आये उपाय वह जो है बुद्धि का अद्वैत में अवतरण करने के लिए उपाय है क्योंकि नास्ति वेद कथंचना क्योंकि भेद वास्तव कदापि किसी प्रकार से हो नहीं सकता है इसी बात को लोह विस्फुलंगाद्य ही सृष्टि आचोदिता मृतिका लोह विस्फुलंग आदि अनेकों दृष्टान्त के द्वारा सृष्टियों का जो प्रतिपादन कर द्वैत के जो सिद्धांत स्थापना करने की चेष्टा की गई है वो अन्यथा भवती उसका अर्थ सृष्टि का प्रतिपादन करने में नहीं है सृष्टि की अधार्मिक का प्रतिपादन करने में भी नहीं है किंतु अद्वैत का प्रतिपादन करने के लिए ही है काफी विचार आएगा जो बारम्बार लोग पूछते हैं वह श्रुति में कहीं तो बोल दिया सृष्टि भाई आकाश आदि क्रम से हुआ कहीं तो बोलते बड़ा अंडा हो गया वो अंडा फूट गया ऐसे वैसे बोल देते हैं कहीं कुछ कहीं कुछ क्रम है तो हमारे श्रुति में कोई ठिकाना नहीं उत्पत्ति के क्रम क्यों ऐसे किया गया वो सब विचार शास्त्र करके बताएंगे कि सब लक्ष्य किस प्रकार से प्रतिपादन हो सके यदि तो एक ही सर्वत्र होता यदि यथार्थ होता ये सृष्टि सत्य होगा यदि भेद सत्य होता उसका एक रूप होता और सर्वत्र श्रुति उसको एक रूप में कथन करता लेकिन इसलिए यथार्थ नहीं है ये सत्य नहीं है इनकी एक रूपता नहीं है माया अपने विविध रूप परिकल्पना करती है कभी तो अंडे घर में कल्पना करके बना देती है माया कभी जो क्रम से पैदा करती है कभी विक्रम से पैदा कर देती है कभी अक्रम से पैदा कर देती है कोई ठिकाना नहीं है क्रम अक्रम विक्रम के अनुसार उत्पत्ति जो आप अनुभव कर रहे हैं श्रुति श्रुतियों में ज्ञापन करता है कि ये वास्तविक तत्व नहीं है कि जो वास्तविक होता है जो पारमार्थिक होता है उसका एक स्वरूप होगा नाना स्वरूप हो नहीं सकता उस तो स्वरूप में कभी परिवर्तन परावर्तन नारी हो नहीं सकते निश्चित रूप से उसका स्वरूप एक होना चाहिए वही नित्य होगा वही पारमार्थिक होगा वही सत्य होगा और ये पारमार्थिक नहीं है ये सत्य नहीं है नित्य नहीं है यही बात को ज्ञापन कराने के लिए सृष्टि की विविध कथन विविध दृष्टान्तों के द्वारा समझाया गया है इसी बात को प्रत्यान कर काफी विचार आरंभ कर रहे हैं देखिए कैसे मृलोह विस्फुलिंगा दृष्टान्त उपन्यास ही सृष्टि चोदिता प्रकाशिता कहते मृल लोह विस्फुलिंगा दृष्टान्त उपन्यास ही इससे पहले थोड़ा एक, एक नंबर टिप्पण पूर्व पृष्ठ का देख लीजिए काफी लंबा चौड़ा लिख रहे विचार बहुत अच्छा है अन्यथा प्रकाशन है उस पर समझा रहे हैं अन्यथा प्रकाशन किस किस प्रकार कितने प्रकार के होते हैं मृल्लो इत्यादि श्लोक से व्याख्यान मृल्लो विश्वलिंगारिष्टान्त उपन्यास ही सृष्टि या अन्यथा उदिता प्रकाशिता श्रुत्या मृल्लो विश्वलिंग दृष्टान्तों के उपन्यास के द्वारा सृष्टि के जो अन्यथोदिता में अन्यथा प्रकाशन की गई है श्रुति के द्वारा मैंने सृष्टि है अन्यथा प्रकाशन द्विधा सृष्टि की अन्यथा प्रकाशन दो प्रकार की हो सकती है क्रम अक्रम विक्रम आदि रूपे एकम अपरम च काला वाला कौन है क्रम अक्रम विक्रम से अन्यथा कथन हो गया है पद्धति यह है किसी वस्तु की मिथ्या स्थापित करने के लिए भाई उसमें यह दिखा देना है इसकी उत्पत्ति में न तो क्रम सत्य है न अक्रम सत्य है न विक्रम सत्य है परस्पर व्यविचारी कथन हो जाने के कारण से वस्तु अन्यथा था इसका लक्ष्य कुछ और ही है कथन करने का पीछे विज्ञापन हो जाता है अपरंच दूसरी तरीका क्या है सृष्टव्य घटारी कार्याणाम उपादान मृदादि अव्यतिरिक प्रकाश सृष्टव्य जो घटारी है कार्य वे मृतिका रूपी उपादान से भिन्न नहीं है अतएव वो मृत्यु का रूप अधिष्ठान में कल्पित होने से मिथ्या है वह घट की उत्पत्ति का कथन घटाकार का कथन घट के जो परिमाण आदि का कथन घट के साथ अर्थ क्रिया कारित्व का कथन व्यवहार सारा चीज मिथ्या है क्योंकि वास्तव में मृत्यु का ही इस प्रकार से भी कथन कर सकते हैं अन्यथा कथन हो सकती है दो प्रक्रिया है कार्य कारण न तो कारणात्मक पहला पक्ष को कार्य कार्य वही होता है वो कारणात्मक नहीं होता अतएव उस व्यक्ति का दृष्टि से हम बोलेंगे नहीं घृतादि क्रिया का घृतार्थ क्रिया दधि साध्य घृत दृष्टि जो अर्थ क्रिया का अर्थ है वह दधि के तरह साध्य नहीं है घी को डाल दो आग में तो आग भड़क उठता और तेज हो जाता है और दही को डाल दो आग में तो आग बुझी जाएगा तो घृत कृत जो अर्थ क्रिया कार्यत्व है वह दधि के तरह साध्य नहीं है और दधि कृत जो अर्थ क्रिया कार्यत्व है घी के तरह साध्य आदमी को दस्त लग रहा है तो उसको घी पिला दो जरा मरी जाएगा मतलब उसको तो दही दो मट्ठा दो चावल दो है ना तब तो ठीक रहेगा मामला इसे दधि साध्य जो है वो घृत साध्य नहीं जो घृत साध्य है वो दधी साध्य नहीं अतः कार्य कार्य में कारण तो कारण में भिन्न ही है कार्य कारण दोनों भिन्न है ऐसा नहीं कहते तो, तो पहला पक्ष वाला है उसके लिए क्रम अक्रम विक्रम पूरा सृष्टि के बारे में श्रुति ने जान के कथन किया कहते हैं ही कार्यम कारणाभिन्नमिति जैसे तीलोक दृश्य तद अन्यतात्म कार्यम कारणाभिन्नमिति और उसके अन्यथा विपरीत में क्या हुआ श्रुति ने दिखा दिया कार्य कारण से भिन्न नहीं है कार्य कारण अन्यथा भवती मैंने जैसा आप सोच रहे हो कार्य कार्य है कारण कारण है कार्य कारण से अभिन्न नहीं है ठीक उसको विपरीत कथन करने के लिए श्रुति यहाँ पर क्रम अक्रम उत्क्रम का प्रतिपादन करते हुए सृष्टि उत्पत्ति का ये स्थापित कर दिया जितनी भी प्रकार की उत्पत्ति है वो अधिष्ठान में परिकल्पित है इसलिए वह कारण अधिष्ठान से अभिन्न है तर प्रथम मनितात्म सिट्टे विसलंगा दृष्टान्त श्रुत्या मृलोह दृष्टान्त अपरम जो पहला प्रक्रिया है वो सृष्टि की विस्फुलिंगा दृष्टान्तों की तरह समझाएगी और दूसरी जो प्रक्रिया है कार्य कारण अभेद कथन वो मृलोहा दृष्टान्त की समझा गया समझाओ मृलोहा दृष्टान्त यद जीवितम अनतात्म विदितम सृष्टि शब्दा सा जीवितोपि अन्यतात् प्रकाशन प्रकार सृष्टौ श्रुतात्पर्य भाव निश्चय प्रसरम उपादेय उपादान अभिन्न निश्चय उत्पादन द्वारा जीव परमात्म की बुद्धि अवतार उपाय अस्माकम दृष्टान्तम के द्वारा जो जीवित अन्यथात्व कथन किया गया विविध अन्यथा तो कथन किया गया है कार्य कारण भिन्नत्व एक प्रक्रिया और कार्य कारण अभिनत्व नीचे प्रक्रिया दोनों प्रक्रियाओं के द्वारा दोनों जगत की जो का जो किया गया वो जो है सृष्टि की सृष्टि है श्रुत्या यद अनतात्मितम स दिनों के अन्यथा तो प्रकाशन प्रकार सृष्टा वह दोनों ही प्रकार की अन्यथात्व को प्रकाशन करने वाला जो पद्धति है प्रकार है वह सृष्टि में वह श्रुति तात्पर्य भाव निश्चय है लेकिन सृष्टि के अंदर उससे भी प्रतिपादन करना मुख्य तात्पर्य नहीं है अन्य तात्व तो का प्रतिपादन करना भी मुख्य तात्पर्य नहीं है तो उपादेयम उपादान अभिन्नम जो कुछ भी उपादेय कार्य वह कारण से अभिन्न है यदि निश्चय उत्पादन द्वारा इस निश्चय के उत्पादन द्वारा जीव परमात्मा ऐक्य बुद्धि अवतार उपाय जीव परमात्मा की ऐक्यत्व में हम लोगों की बुद्धि को अवतरित करने के लिए ही एक साधन रूप समझो ये सब कथनों अत्र च मिलो विस्फुलिंगे दृष्टान्त दैविध्य अनुरुद्ध अन्यथा शब्द चकार सहकारण अर्थ दैविध्य पर्याप्त अन्यथा अन्यथा ऐसे दोबारा कहना चाहिए था श्लोक में क्योंकि दो प्रकार के नेता है ना आपने अन्यता कर छोड़ दिया होना चाहिए मृलो विसलंगा दे सृष्टि रन्यता रन्यता ऐसे कर तो सीधे सीधे बाकी शब्द हटा दो कहते नहीं कोई जरूरत नहीं च के द्वारा ज्ञापन हो जाएगा यद्यपि मृदा श्रुति न ब्रविधि उपादन उपाधि और आवेदन मुखता यद्यपि स्पष्ट रूपेण घट और मृत्यु का अत्यंत वेद को श्रुति नहीं कह रही है ये बात हम भी मानते हैं तथापि ज्ञातम ब्रवाणो कहते फिर भी यदार ज्ञात है ब्रवाणोपाधेय उपादान ज्ञान था कथन करता हुआ उस उपाधि की उपादान की जो अभेद ज्ञान से ज्ञापन हो रहा है तात्पर्य का साक्षात नहीं है तात्पर्य से ज्ञापन हो रहा है तम व्यक्ति नई घटक ज्ञानम पटक ज्ञात प्रयोजती घट ज्ञान को पट में ज्ञातता का प्रयोजक जैसा नहीं होता है आप मानते हो उसी प्रकार यहाँ पर भी द्वैत का प्रतिपान कर सृष्टि वाक्यों को हम नहीं मान सकते मुखतो पिवा वाचन विकार और कहीं कहीं मुखत स्पष्ट कर दिया वाचारमण विकारो नाम दियम वाचो विज्ञापन तक इत्यादि शब्दों से स्पष्ट कहा है गौणम्य भाव और वापस आई उस विचार के आधार पर बहुत लाभ होगा आगे विचार के लिए इसलिए कह दिया मृल लोह विस्मृंगारी दृष्टान्त उपन्यास सृष्टि चोरिता प्रकाशिता अन्यथा च सर्व सृष्टि प्रकार जीव परमात्मा बुद्धिवताराय उपाय अस्माक मृलोह विस्फुलिंग दृष्टान्त उपन्यास ही च उदिता प्रकाशिता चोरिता नहीं समझना च उदिता अलग है प्रकाशिता अन्य सर्व सृष्टि प्रकार जीव परमात्मक बुद्धि है है उपाय अस्माकम मृतिका लोहपिंड विश्वलिंग आदि दृष्टान्तों का उपन्यास करके जो भिन्न भिन्न प्रकार से की सृष्टि को प्रकाशित किया वह अन्यथा अनुपन्न होकर के वह अन्यथा अनुपन्न होकर के सर्व सृष्टि सृष्टि प्रकारो वह समस्त सृष्टि जो विवेचन है वह तो जीव परमात्मा कद बुद्धि अवताराय जीव परमात्मा एकत्व विषय में अपनी बुद्धि को उतारने के लिए ही कहा गया है अस्मागम बुद्धि अवताराय उपाय साधनम भवती क्योंकि ऐसे मानने में क्या प्रमाण है हम्म? सृष्टि के विचारों को जीव ब्रह्म एकत्व में ही विषय का वृत्ति का संपादन करने के लिए ही बुद्धि को अवतरित करने के लिए है ये आप रिक्के सागर पर कह दिया तो कहते जिस प्रकार देखो अन्यत्र आप देखेंगे जो भी संवाद है उनमें भी यही जगह संवाद किस लिए है प्राण संवाद आता है प्राणों ने आपस में लड़ाई लड़े और मैं ज्येष्ठ में श्रेष्ठ में वशिष्ठ में इत्यादि होने लगे तो विवेचन होते होते फिरता ही भाई ब्रह्मा जी ने कहा भाई एक तो एक साल के लिए आप लोग अलग हो जाओ देखो किसकी ज्येष्ठता श्रेष्ठता वशिष्ठता का कारण से शरीर जिंदा है आम चला गया पहले जबान चला गई सब एक एक करके गए बाहर साल भर घूम फिर के आए तो देखते हैं कि बस ऐसा ऐसा ऐसा कैसा जिंदा है मरा तो है और जैसे प्राण निकला लगता है तो उसे हल्ला मच गया तो सबने मान लिया प्राण को हम संवाद का तात्पर्य किसने क्या वास्तव में कोई लड़ाई हुई तो इसलिए कहते यथा प्राण संवार है वादादि आश्रुतात्मा वेदादि आख्यायिका कल्पिता वाघादियों में पाप से विद्ध हुए वो अपने लिए ही उद्गान करते हैं स्वार्थ अच्छी चीजों को अपने लिए लिया और बुरे चीजों को छोड़ने की चेष्टा करी यही सबसे बड़ा बात है कर्ज पाप से विद्ध हो गए अदय सब परास्त हो गए इत्यादि जो आख्याय का है कल्पित है वो प्राण वैशिष्ट बोधा होता है कारण विद्यमान वैशिष्टता के अंदर आपकी बुद्धि का प्रवेश कराने के लिए वो संवाद आप मानते हो ताकि उपास्य होता प्राण की महिमा आपको जानना जरूरी है उसके बिना प्राण की उपासना आप कर नहीं पाओगे जो भी उपासक है उसकी अपनी उपास्य की जब स्तुति होती है तब तक वह या उसके गुणों का जब तक वो नहीं जान पाएगा तब तक वो उपासना ही नहीं कर सकेगा इसे तो समस्त प्राण संवाद के द्वारा तात्पर्य क्या है कि वो केवल उस प्राण के अंदर विद्यमान विशिष्ट गुणों का वर्णन करना ही है ताकि उन उन विशिष्ट गुणों से युक्त प्राण के अंदर आपकी उपासना के करने की बुद्धि प्रवेश कर सके ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी है समझिए विपक्ष कहता है तदप्य सिद्धि जन्ना अरे ये व्यवस्था हम नहीं मानेंगे श्रेष्ठता वशिष्ठता आदि बोध से विशिष्ट प्राण की उपासना में हमारी बुद्धि प्रवेश कर सके इसके लिए जो आपने कहा यह बात बनती नहीं है क्यों देवता शब्द प्रयोग छेदनता शब्द प्रयोग होने से वह चेतनता प्रतीत होता है इसे उनकी वास्तविक लड़ाई हुई यह माननी पड़ेगी आपको और वास्तव में प्राण जीत गया क्यों नहीं मानते आप और सृष्टि का विचार भी है इसलिए इसके द्वारा जीवन में तत्व में बुद्धि अवतरित होने का इसका प्रयोजन कैसे करता होगा दृष्टान्त और दाष्टान्त विषमता है ये पूर्व पक्षी का आशय इसलिए वह मुख्या होनी चाहिए कौन अर्थ नहीं लेना इनके शाखा भेदेश अन्न था प्राण श्रवणा कई शाखा वेदों में अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की संवाद का स्वरूप वर्णन किया कहीं देवता का है कहीं नहीं भी कहा है पर क्रम अलग है कौन किससे क्या लड़ा क्या हुआ कैसी हुआ पूरी प्रक्रिया ही अलग अलग बताई हुई है इन सभी शाखा में एक ही बात सामान्य है वहाँ प्राण ही ज्येष्ठ श्रेष्ठ वशिष्ठ आयतन वाला सर्व वाला है इतनी बात सभी शाखाओं ने समान है लेकिन बाकी बातों में अलग अलग प्रकार से कहा गया है यदि संवाद परमार्थ होगा बहुत यदि वह संवाद वास्तविकता सत्यता पारमार्थिकता एक रूपये सर्वशाखा श्रोष्यक विरुद्ध होने का प्रकार ना श्रोष्यक श्रोय दे तो सभी शाखाओं में एक प्रकार का ही संवाद हमें सुनने को मिलना चाहिए था विरुद्ध विभिन्न प्रकार के संवाद श्रवण में नहीं आना चाहिए लेकिन सुनने को मिल रहा है तस्मा नावर्तन संवाद श्रोती नाम ऐसे संवाद श्रोतियों की मुख्यार्थता नहीं ली जा सकती है गौणार्थी मानना पड़ेगा तदा उत्पत्ति वाक्या है प्रत्येक यानी ठीक उसी प्रकार से उत्पत्ति वाक्यों को भी आपको समझनी चाहिए उत्पत्ति वाक्य मैंने सृष्टि के संबंध वाक्यों तो पूर्व पक्षी कहता है महाराज वो जो कथा में भेद आया ना वो इसीलिए कि कर्म वेद को लेकर गए ये नहीं कि उन कथाओं के मिथ्यात्व के कारण कथा भेद का कारण के आधार पर आप कथाओं में मिथ्यात्व लाए और प्राण की प्रशंसा मात्र ही सत्य है लक्षित है कथाओं के अपने आप में यथार्थता नहीं है लक्षित दबाव लक्षार्थ मुख्य है ना और इसके जो है वाचार्थ मुख्य है नहीं ये आपको कहना ठीक नहीं वाक्यार्थ भी वाचार्थ मुख्य है उसका लक्षार्थ है नहीं बल्कि और कुछ क्यों कल मैं फिर से व्यवस्था कर दूंगा कल सर्ग भेदात संवाद शब्दाम उत्तर शब्दांच प्रसर्गम अन्नदातम चिन्ना कल एवं सर्व सर्व वेदात कल्प रूपी सृष्टि का वेद से कल्पात्मक जो सृष्टि का रेत से समय श्रुतियों में और उत्पत्ति श्रुतियों में भी विविधता देखने को मिलता है निसर्ग मनधात्म क्योंकि प्रत्येक सर्ग भिन्न प्रकार का है तो जैसी सर्ग होता वैसे सृष्टि क्रम आदि का वर्णन होगा कहीं सीधा तेजोत्पत्ति कहीं अंडोत्पत्ति कहीं क्रमोत्पत्ति सब क्रम अक्रम विक्रम सब चलेगा अलग अलग कल्प अलग अलग हिसाब किताब है तो कल्प वेद से सब है इसलिए इनकी परस्पर विरुद्ध कथन को देख करके आप इनकी मिथ्यात्व कथन नहीं कर सकते ऐसा पूर्व पक्षी आशंका करता है विचिन्न निष्प्रजता अरे कल्प वेद की कहानी हमको बता के क्या फायदा क्या प्रयोजन है आप अमुक कल्प में ऐसा सृष्टि हुई थी अमुक कल्प में ऐसा सृष्टि हुआ था अमुक कल्प में ऐसा सृष्टि हुआ था उनको लेकर मैं क्या करूंगा क्या प्रयोजन ऐसा बोलने का ये यदि मान के चलो कि कल्प वेदों में हुई सृष्टियों को वर्णन कर रही है तो वर्णन करके क्या लाभ है क्यों वर्णन करे श्रुति कोई प्रयोजन तो होना चाहिए प्रयोजन क्यों नहीं हुई श्रुति कह देती क्या बात एक मात्रा भी व्यर्थ नहीं श्रुति कुछ न कुछ आपको प्रयोजन बताना पड़ेगा अन्य सकल्प स्वर्गीय सृष्टियों का वर्णन करने का क्या कारण है उसका प्रयोजन कहीं आगे पीछे कुछ नहीं मिलता जो साक्ष्य को मानेगा वो अमुक कल्प किसी भी कल्प का है उसको ये फल मिलेगा ऐसा बोलते हैं एक तो प्रयोजन निष्प्रयोजनता इसलिए हमारा ही बात कथन सही है कि बुद्धिवतार भी प्रयोजन से अतिरिक्त कोई अन्य प्रयोजन कहीं भी प्रतीत नहीं हो रहा है तो यथोक्त बुद्धिवतार प्रयोजन व्यतिरेक है ना निष्प्रयोजन यथोक्त हमारी परम्परा प्रक्रिया के अनुसार जो अद्वैत बुद्धि का अवतरण करने के लिए प्राण के श्रेष्ठत्व आदि के रूप में प्राण उपास्य रूप बुद्धि का अवतरण करने के लिए ही जो प्रयोजन बताया उससे बिन अन्य कोई प्रयोजन हमें अनुभव में नहीं आता निष्प्रयोजन नहीं अन्य प्रयोजन संवाद श्रुति नाम शक्ति कल्पितम और दूसरी बात अन्य किसी प्रयोजन को संवाद श्रुतियों की और श्रुतियों की आप कल्पना करना चाहे आप कल्पना भी नहीं कर सकते ये समस्या है तो न सत्यम न कल्पना करना संभव नहीं है तथा तो प्रतिपत्ते ध्यानार्थम चिन्ह तथा तो प्रतिपत्ते ध्यानार्थम कहते कि भय वो इसलिए ऐसा बोध कराया वैसा आप ध्यान करें चिन्ह ऐसा भी नहीं हो सकता प्राणादि भाव प्राप्ति के लिए ध्यान करना पड़ता है प्राणादि का संकीर्तन को देखते हुए हमें प्राण की उपासना करने के लिए पूरी संवाद पर भी चिंतन करना जरूरी है कृपा से कहना है इस संवाद के द्वारा कोई गुणमात्र चिन्ह से नहीं पूरी समाज की चिंतन करके तो त्याग